तार्जवमेवच ज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम ये जो ब्रह्म कर्म से उपलक्षित जो ब्राह्मण होगा समदमादि संपन्न वो ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी होगा ब्राह्मण जाति में पैदा होने पर भी अगर समदमादि अंतकरण शुद्धि से संपन्न नहीं है तो अनधिकारी है और अन्य जाति में अन्य वर्ण में होने पर भी यदि समदमादि से संपन्न है तो वो वेदांत का ब्रह्म विद्या का अधिकारी है उसके लिए बुद्धि की अपेक्षा है और और जगह में शरीर की अपेक्षा है बोला और भक्ति में भाव की अपेक्षा है तो ये जो है बुद्ध किसको बोलते हैं ए तद वही जन्म साफल्यम ब्राह्मण से विशेषतः महाभारत में ये श्लोक आया है आत्मज्ञानम समश्चव पर्याप्तम तत्परायणम एक तो ब्राह्मण जन्म साफल्य क्या है अपना ज्ञान हो कि मैं कौन हूं है ना एक मन में शांति रहे और एक जो ज्ञान हुआ ना उसमें निष्ठा हो ये जान करके ही मनुष्य बुद्ध होता है ज्ञाने च त्रिविधे ज्ञे क्रमेण विदिते स्वयं सर्वज्ञता ही सर्वत्र भवती है महाधिय एतद बुद्धवा भवेद बुद्ध कि मन्यत बुद्ध लक्षण महाभारत में आया कि बुद्ध का लक्षण क्या है कि जो ये जान जाए कि मैं ब्रह्म हूँ उसका नाम बुद्ध प्रबुद्ध जाग गया टूट गया उसका द्वैत का सपना टूट गया राग द्वेष मोह उसका टूट गया अविद्या का परिवार उसका भस्म हो गया ज्ञानाग्नि में उसका नाम है प्रबुद्ध बुद्ध अब ये तीन तरह के जो ज्ञान है ज्ञाने चित्रविधे ज्ञे क्रमेण विदिते स्वयं तीन प्रकार का ज्ञान कौन जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तीन प्रकार का ज्ञ उसमें स्थान और स्थाने माने अब विश्व तेजस प्राज्ञ और उनका स्थान ये जब इनको खूब ठीक ठीक जान लेते हैं ना तब ऐसा जो महान ज्ञान संपन्न पुरुष है वो सर्व है और ज्ञा है तुरियम त्रिशु संततम वो स्वयं ब्रह्म है और ब्रह्म में जो फुर रहा है सो भी वही है जैसे अगर किसी को ये मालूम हो जाए कि मैं माटी हूं तो माटी से बने जितने खिलौने हैं सब वही है कि नहीं अच्छा किसी को मालूम हो जाए कि मैं पानी हूं तो सब तरंग फेन बुदबुद वही है कि नहीं और किसी को मालूम हो जाए कि मैं आग हूं तो सब लपट और सब चिंगारी वही है कि नहीं है? और किसी को मालूम हो जाए कि मैं हवा हूं तो सबके दिल में चलती हुई सांस मैं हूं ये मालूम पड़ेगा कि नहीं अरे हम सब एक ही हैं हो एक प्राण द्वय तो देही देह ही अलग अलग मालूम पड़ते हैं हम सब लोगों की सांस बिल्कुल एक है जब सांस एक है तब आकाश एक है तब है ना आत्मा एक है तब ब्रह्म एक है ये कहने के लिए तो बात ही कहां रहे तो सर्व और ज्ञा सर्वश्चास ज्ञा ज्ञा भी वही है और सर्व भी वही है जो जाना जाता है वो भी ब्रह्म देखो ना यदि ये मालूम पड़ जाए कि हम मन हैं तो सपने में जितनी चीज दिखाई पड़ती है वो सब मैं ही हूं ये मालूम पड़ेगा कि नहीं है? और ये मालूम पड़ जाए कि मैं ईश्वर हूं तो संपूर्ण जीव और जगत मैं हूं ये मालूम पड़ेगा कि नहीं और मालूम पड़ जाए कि यही जैसे मैं मिट्टी हूं ये मालूम ये तो मैं देह हूं ना सार सबसे बड़ा पाप तो यही है है ना कि मैं अपने को देह मानता हूं है ना हाँ खटमल काटे तो उसका संहार मच्छर काटे तो उसका संहार देखो ना और जो मिट्टी मानता है ना उसके संहार नहीं होता आप देखो ये ये विचित्र बात है तो क्या विचित्र बात है कि जैसे मैं भी मिट्टी और खटमल भी मिट्टी है तो ये शरीर भी मरेगा तो मिट्टी होगा और खटमल मरेगा तो मिट्टी होगा तो खटमल शरीर खटमल का और मैं का दोनों का रहना भी मिट्टी है और दोनों शरीरों का टूट जाना भी मिट्टी है तो गीता का ज्ञान आ गया ना ततो युद्ध स्वभारत तस्मात युद्ध स्वभारत तो वेदांत में गीता का ज्ञान आ गया और नारायण जब ये शरीर जो है ना इसको मैं मान के बैठते हैं तो ये मैं और ये तू है ना अरे बाबा है ना देखना मात कार्य छूना मात है ना अरे और ये देह भाव जो है ना ये देह भाव बड़ी भारी भ्रांति है वो तो ये महाधिया महाधिया माने जिसने अपने को ब्रह्म जान लिया महान बुद्धि संपन्न हो गया उसको सर्वज्ञता की प्राप्ति हो जाती है अब एक बड़ी विलक्षण प्रक्रिया इस ग्रंथ की खास बात है वो बताते हैं तो बोले अच्छा भाई जागृत स्वप्न सुसुप्ति का तुम वर्णन करते हो तो ये सच्चे की झूठे और काम क्रोध लोभ को छोड़ो और शांति दांति को ग्रहण करो तो ये सच्चे की झूठे आपको तो हम बताते हैं ये आजकल के जो मनोवैज्ञानिक लोग हैं ना वो कहते हैं कि दिमाग पर तनाव मताने दो बोला पर वो तनाव मिटाने के लिए उपाय क्या बताते हैं बोले कि अच्छा भोग का मन आवे तो भोग करो है ना भोग कभी तनाव मिटाने का उपाय हो सकता है पर यथार्थ में उन्हीं मनोवैज्ञानिक से जाके पूछो कि एक बार भोग करेंगे तो एक बार का तनाव मिट जाएगा फिर उस भोग का जो अभ्यास बढ़ेगा और वासना बढ़ेगी वो फिर दोबारा तनाव उत्पन्न करेगा कि नहीं है ना वो दोबारा तनाव उत्पन्न करेगा कि नहीं करेगा हम उसका खंडन करने के लिए नहीं कह रहे हो है ना हम समर्थन करने के लिए कह रहे हैं समर्थन क्या करते हैं समर्थन ये करते हैं कि ये जो सर्व में समत्व का ज्ञान है है ना ये जो सर्व रूपता का ज्ञान है ये जो ब्रह्म रूपता का ज्ञान है है ना ये जो ब्रह्म रूपता का ज्ञान है इसमें तनाव की जैसी निवृत्ति है वैसी निवृत्ति क्या तात्कालिक इंजेक्शन में कि गोली में कि कि नारायण की भोग में बोले ये कहते हैं कि बच्चा कोई गलती करे तो उस पर मार के या डांट के या दबाव डाल के उसको मत रोको उसको तो समझा के रोको है ना बात तो ठीक हुई परंतु अब अपने को जो गुस्सा आया उसको कैसे रोकें है ना बच्चे को रोकेंगे तब तो पागल हो जाएगा वो कहते हैं कि पागल हो जाएगा लेकिन हम अपने को रोकेंगे तो हम पागल नहीं होंगे तो तो ज्ञान ऐसा चाहिए जिसमें बच्चे की जो गलती है ना वो शिथिल पड़ जाए बच्चे के स्वभाव के ज्ञान से बच्चे की गलती ढीली मालूम पड़े है ना और अपना जो वेग है गुस्से का वो ढीला रहे वो शिथिल रहे वेग में भी शैथिल्य हो है ना और अपराध की भावना में भी शैथिल्य हो ये बात कैसे होगी जब मालूम पड़ेगा दोनों ब्रह्म की पूर्णा है है ना दोनों ब्रह्म की पूर्णा है ये बात ब्रह्मयी तत्व से मालूम पड़ेगी तो एक विचित्र अभिप्राय से यहाँ विभाग भी बड़ा विलक्षण है चार तरह की वस्तु अपने शरीर में जीवन में है पहले इस बात को समझना चाहिए कुछ वस्तुएं तो ऐसी हैं जिन्हें छोड़ देना चाहिए है ना और कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें पा लेना चाहिए और कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें पचाना चाहिए और कुछ एक वस्तु ऐसी है जिसको जान लेना चाहिए ये चार विभाग कर दिया तो ये जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति में परिच्छिन्न पना मैं पना है ना ये क्या है ये हे है हो ये जो अज्ञान के कारण ये परिच्छिन्न में अपना मैं बैठा देने के कारण जो अध्यास है ये अध्यास तो हे है ये आनंद आश्रम वाली पुस्तक में जो गे गे आप पे पाक्यानी छपा हुआ है वो गलत है वो है ना हे गे आप पे पाक्यानी है पाठ शंकर भाषा में स्पष्ट ही है हे माने हाथुम योग्यम वो हाथ त्यागे हाँ, त्याग के जो क्या जागृत स्वप्न सुसुप्ति की परिच्छिता में जो मैं पना है इसको छोड़ दो और पाना क्या चाहिए कि जो अच्छी आदतें अपने जीवन में नहीं हैं है ना गाली देने पर भी सह सकें है ना हाँ, एक महात्मा हमको गाली देते थे है ना हाँ। तो मैंने पूछा आप गाली क्यों देते हैं बोले हमारी गाली तुमको बुरी लगती है तो दुनियादार तो बहुत गाली देंगे क्योंकि तुम जिसके मन के अनुसार नहीं चलोगे है ना वही तुमको गाली देगा और दुनिया में सबका मन अलग अलग है जिसके कहे अनुसार नहीं चलोगे जिसके मन अनुसार नहीं चलोगे वही तुमको गाली देगा तो अगर गाली सहने की आदत नहीं हो मनुष्य के जीवन में माने अपमान सहने की आदत न हो गाली सहने की आदत न हो अपने मन के विरुद्ध काम सहने की आदत न हो तो आदमी तो मर जाएगा दुनिया में है ना हर समय बौखलाते रहो एक बहू आई हो तो उसको गांव के लोगों ने बताया कि जो तुम्हारी सास है ना ये दिन भर कुछ न कुछ भक्ति शक्ति रहती है बड़ी चिड़चिड़ी है बड़ा खराब स्वभाव है बहु बड़ी बुद्धिमान थी समझ लिया हो तो अब सास आके बिगड़ने लगी कि अभी आज ही आई है और ऐसे घूंघट ऐसे नहीं किया और ऐसे चलती है है ना बहू नहीं हो अंगूठा दिखाया अंगूठा बरस पड़ी खूब गाली देने लगी गाली देने लगी तो फिर थोड़ी देर गाली देने के बाद जब चुप हुई तो फिर बहू उधर से झमकती हुई निकली और यो अंगूठा दिखाती हुई अब फिर गाली देने लगी अब तीन बार चार बार पांच बार है ना दो तीन घंटे सास को गाली देते देते जब हो गया है ना पानी पी पी के गाली दे जब थक गई तो जाके सो गई अब उसने सोचा कि इस बहू से तो हम पार पाने वाले नहीं है <laughs> है ना तो दूसरे दिन से उसने गाली देना अपमान देना करना बंद कर दिया ना देखो कुछ चीजें ऐसी हैं दुनिया में अच्छा अभ्यास जिसको बोलते हैं ना है ना अच्छी बातें आदत के रूप में जीवन में आ जानी चाहिए उनमें बनावट या जोर नहीं लगना चाहिए ये पाने की चीज है श्रम दम उपरती तितिक्षा और कुछ ऐसी चीजें हैं जो न तो छोड़ी जा सकती और न तो पाई जा सकती वो कौन सी है का मन में जो स्वाभाविक राग है स्वाभाविक द्वेष है है ना वो है बोला ये मत कहना जब आके कोई बोलता है ना कि हम कभी झूठ नहीं बोलते है ना तो ये मालूम पड़ता है कि या तो ये बेचारा इतना बावरा है कि उसको पता ही नहीं है कि झूठ क्या होता है है ना हाँ। और या तो ये ढोंगी है पल्ले नंबर का जो ऐसे बताता है कि हम कभी झूठ नहीं बोलते अरे भाई जो आदमी वाणी से बोलेगा उसके मुंह से कभी झूठ भी निकलेगा है ना तो अरे दस आदमी से जो मिलेगा उसको कोई पसंद भी आवेगा है ना उसको किसी को देख के नफरत भी होगी ये बात स्वाभाविक है बोला मन क्योंकि मन एक संस्कार से आक्रांत है उसको अमुक अमुक तरह की चीज अच्छी लगती है अमुक अमुक तरह की चीज बुरी लगती है है ना देखो फल देख के अब हम लोग मछली के बाजार से जब निकलते हैं है ना तो नाक दबा के निकलते हैं हो है ना और वही महाराज जो उसके उपासक हैं है ना वो वहां से निकलते हैं तो देखो कैसे प्रेम से उसको पसंद करते हैं तो मन में पाप के कुछ कुछ दोष है है ना राग है द्वेष है तो उसको बचाओ है ना जैसे आपका संसार में जगह जगह राग होता है तो अपने पति से राग करके उसको बचा लो बोला द्वेष ही करना है तो अमुक जगह करना अमुक जगह नहीं करना उसका विभाग कर लो और विभाग करके उसको पचा लो परिपक्व बना लो आप जानते हैं कई चीजें है ना वैसे ये जैसे आंवला है ना आंवला उसको कच्चा खाओ तो कैसा लगता है और उसको नारायण है ना रसायन बना लो कैसा बढ़िया होगा आम है कच्चा खाओ तो कैसा और पका लो तो कैसा तो कुछ दोष अपने जीवन में ऐसे हैं जिनको हम छोड़ नहीं सकते भला और उनका त्याग किसी से उधार नहीं ले सकते क्योंकि वो तो अपने दिल में होते हैं तो उनको पकाना पड़ता है तो ब्रह्म ज्ञान के पहले जो राग द्वेष आदि दोष हैं उनको पका के है ना पाक बना लो है ना कर, करेले को वैसे नहीं खा सकते है ना वैसे नहीं खा सकते लेकिन जब उसको घी में तेल में तल देते हैं उसकी कड़वाहट को पचा देते हैं उसमें नमक डाल देते हैं तो खाने लायक हो जाता है तो राग द्वेष भी जीवन में रखने लायक होता है उसको परिपक्व बना करके परिपक्व बना करके रखना पड़ता है है ना कच्चा नहीं हो ढीला ना हो जहां तहां बह न जाए जहां तहां बह न जाए है ना उसको पानी मत रखो उसको दूध है ना बहता हुआ दूध मत रखो उसको मलाई बना के रखो मीठा बना लो अपने राग को है ना जैसे जने जने से यारी आवे तो अपने बती से राग करके उसको परिपक्व कर लो है ना चेले का मन जगह जगह जाए बोले अपने गुरु से राख करके परिपक्व बना लो ऐसे ये दोष को परिपक्व बना रहा और एक चीज क्या है का विज्ञे विज्ञे स आत्मा स विज्ञे या मूल में बताया तो वो विज्ञे क्या है बोले तेसा मन वो विज्ञे है आत्मा उसको जानो जागृत स्वप्न सुसुप्ति विश्व तेजस प्राज्ञ इनसे विलक्षण है ना उसके अतिरिक्त न देश न काल न वस्तु न सजाती है न विजाती है न स्वगत न मैं न तुम न यह न वो वो अखंड आत्मा का वो विज्ञेय है कि ये चारों बातें सच्ची हैं बोले नहीं चारों बातें सच्ची नहीं इनमें से एक सच्चा है है ना परमार्थ सत्य केवल अपना आत्मा है और जिसको छोड़ना है वो भी झूठा है जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि की उपलब्धि है सो भी झूठी है और जिनको पचाना है वो भी केवल मन की फुरफुराहट है तो तेषाम अन्यत्र विज्ञात इनमें विज्ञे आत्मा को छोड़ करके जो तीन हैं ये केवल उपलम्ब हैं उपलम्ब है माने केवल मालूम पड़ते हैं केवल प्रतीति है स्वप्नवत है ना सच्चा तो आत्मा ही है इस श्लोक को शंकराचार्य भगवान ने उपदेश साहस्त्री में ऐसे बढ़िया ढंग से लिया है अब उसको कल सुनावेंगे वो बच्चू भाई देखो आ रहे हैं ना विश्व व्याप्यपाख्यानि विज्ञेयान्यग्रजाणतः तेषामन्यत्र विज्ञेया उपलम्भस्त्रसुस्मृतः प्रकृत्याकाशवज्ञेयाः सर्वे धर्मा अनादयः विद्यते न हि नानात्वम् तेषाम् क्वचन किंचन आदिबुद्धा प्रकृत्य सर्वे धर्मा सुनिश्चिता यस्वति शांति सोमृतत्वाय कल्पते आदिशांता हनुत्पन्ना प्रकृत्य सुनिर्वृता सर्वे धर्मा समाभिन्ना अजम साम्यम विशारदम वैशारद्यम तो वै भेदे विचरता सदा निम्ना पृथग्वादाः तस्मात्ते कृपणाः स्मृता अजे साम्ये तुझे केचि भविष्य सुनिश्चिता ते लोके महाज्ञा तच्च लोको न गाहते ये तव नहीं चाहिए आनंद आश्रम की प्रति में जो तव छपा है उसकी जगह पर तच्च चाहिए ते ही लोके महाज्ञाना तच्च लोको न गाते तो अपनी प्रक्रिया बताई लौकिक विशुद्ध लौकिक लोकोत्तर लौकिक क्या है जागृत अवस्था जहां वस्तु भी है और उपलब्धि भी है ज्ञान स्वप्न में वस्तु नहीं है परंतु उपलब्धि है उपलब्धि ही वस्तु के रूप में भाग रहे हैं सुसुप्ति में न वस्तु है न उपलब्धि है तो इन तीनों का नाम है हेय हेय माने त्याज्य इनका अपवाद कर दो और इनके अभाव से उपलक्षित जो साक्षी है अधिष्ठान है वो अपना स्वरूप है उसको बोलते हैं ज्ञेय वो परमार्थ स्वरूप है तब प्रश्न ये आया कि ये तीनों अवस्था जिनको तुम हे बताते हो ये सच्ची है कि झूठी तो इसी पदार्थ का निर्णय करने के लिए सच्चाई और झुठाई जो होती है ना वो एक हिसाब से होती है अपेक्षा से होती है वो बिना अपेक्षा के विवेक नहीं हो सकता विवेक माने अलगाव जहां अलगाव होगा जहां विवेक होगा वहां तो फिर भेद जरूर होगा सापेक्षता होगी तो अब इस बात को आप ऐसे ध्यान में लो एक महात्मा बोलते हैं कि जब बुद्ध ने कहा कि विज्ञानम विज्ञानम विज्ञानम सब विज्ञान है सब विज्ञान है सब विज्ञान है क्षणिकम क्षणिकम क्षणिकम विज्ञानम की जगह बोलो क्षणिकम क्षणिकम क्षणिकम तो काल जो है ना क्षणिक क्षण जिसका अवयव है वो काल बुद्ध के अनुभव से अलग होके खड़ा हो गया और बोला कि तुम क्षणिकम क्षणिकम में लगे हो लेकिन ये क्षणिकम क्षणिकम और तुम खुद दोनों हमारी गोद में हो क्षणिकत्वावच्छिन्न जो ज्ञान है ना नारायण है ना बोले काल ने कहा कि ये तुम्हारी क्षणी क्षणाकार वृत्ति और क्षण दोनों हमारी गोद में है अभी महात्मा जी है ना आप हमारी गोद में बैठे हैं काल का बाध नहीं हुआ हो विज्ञान की धारा जिसमें बह रही है क्षणिकता की धारा जिसमें बह रही है उस काल का बाध नहीं हुआ तो एक ने कहा वो उड़ गए है ना कहा अरे बैकुंठ में गए स्वर्ग में गए गोलोक में गए है ना ब्रह्मलोक में गए अलोकाकाश के सिरे पर गए बड़ा भारी अनुभव हुआ क्या पूछना है तो देश जो है वो इतने जोर से छठा के हंसा कि अभी तो तुम्हारा सारा अनुभव हमारे है ना हमारी मुट्ठी में है ये ऊंचाई निचाई कहाँ है जब चारबाग ने कहा कि सब जड़ है सब जड़ है सब जड़ है तो जो सच्चाई है वो उससे अलग होके बोली है ना कि तुम जड़ और तुम्हारा अनुभव जड़ और तुम जड़ के बच्चे जड़ से तुम ज्ञान तुम्हारा जड़ से पैदा हुआ जब कांट ने कहा अज्ञे अज्ञे अज्ञे अज्ञे तब जो साक्षात अपरोक्ष विज्ञान था ना हाँ, और रोने लगा कि हमको छोड़ के तुम किसको अज्ञे कह रहे हो बोला हाँ, अज्ञेयता की कल्पना को प्रकाशित करने वाले तुम है ना अपने को न जान करके किसी और को अज्ञेय बोल रहे हो कहने का अभिप्राय ये जिन लोगों ने कहा दो उनका ज्ञान आधा आधा हो गया जिन्होंने कहा हजार उनका ज्ञान हजार टुकड़े हो गया क्योंकि जिसको तुम देखोगे जिसको जानोगे उसी आकार में ज्ञान की प्रतीति होगी और सबके अत्यंता भाव से उपलक्षित जो स्वयं स्वस्वरूप है वो न देश की गोद में है न काल की गोद में है न द्रव्य की गोद में है न हजार है न दो है है ना केवल प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न ब्रह्म तत्व ही अद्वितीय है तो केवल विज्ञे जो है ना नारायण अब देखो आपको बताते हैं इसके लिए कुछ साधन संप्रदाय में इष्ट हैं आप्य और पाक्य तो नारायण शंकराचार्य तो बिल्कुल बिना श्रुति के तो कुछ बोलते ही नहीं है ना आप्य क्या है पांडित्यम निर्विध्य बाल्य नतिष्ठा से बाल्यम निर्विद्य भवनी नतिष्ठा से वहां जो निर्विद्य शब्द है ना निर्विद्य उसका अर्थ है प्राप्य आप्य बोला प्राप्त करने योग्य ये विद्री लाभे धातु से निर उपसर्ग लगने पर निर्विद्य शब्द बना है बोला निर्विद्य विद्री लाभे से बना है निर्विद्य निश्चेषेण उपलब्ध तो प्राप्त क्या करना चाहिए तो बोले एक तो श्रवण करना चाहिए ये पांडित्य है हो तो भला श्रवण में क्या पांडित्य है तो दोनों खान मूरख से मूरख भी आके है ना बड़े भारी पंडित के सामने बैठ जाए दोनों कान के छेद खुले ही हैं सुन लेगा इसमें पांडित्य कहेगा बोले वेदांत की परिभाषा में कान से सुनने का नाम श्रवण नहीं है संपूर्ण वेदांतों के तात्पर्य निर्धारण में जो निपुणता है उसको वेदांत में पांडित्य बोलते हैं कोई भी श्रुति पूछो हम उसका समन्वय आत्मा और ब्रह्म की एकता में कर सकते हैं अगर ये बात तुमको मालूम पड़ गई ये जुक्ति आ गई समझ में एक और सृष्टि एक और श्रुति कह रही है कि सृष्टि हो रही है एक और कह रही है सृष्टि स्थित है एक और श्रुति कह रही है प्रलय हो रहा है एक और कहती है पुनर्जन्म होता है एक और कहता है उत्क्रांति होती है ना श्रुति हजार तरह से वर्णन करती है परंतु सब श्रुतियों का तात्पर्य आत्मा और ब्रह्म की सिद्ध एकता समझाने में है ये अगर संपूर्ण वेदांतों का तात्पर्य निरूपण करने की विधा पांडित्य आ गया तो तुम पंडित हो गए ये पंडिताई सीखनी पड़ेगी है आप्य यही आप्य है ये गुरु से पाने योग्य है वो ये लाइब्रेरी में बैठ के है ना और कोई कहे कि हम किताबों में स्टडी करेंगे है ना और उसमें से ये पांडित्य निकाल लेंगे नहीं उसमें से ये नहीं निकलता बड़े बड़े लोगों को भ्रांत होते देखा अच्छा बाल्यम लो तो बाल्यम शब्द का अर्थ है ज्ञान का बल एक ब्राह्मण यज्ञ में विश्वास रखता हो बोला प्रायश्च कर्म में विश्वास रखता हो और जब उससे कोई पाप हो जाए तो कहे कि ईश्वर ने कराया है तो अपनी धर्म निष्ठा से च्युत हो गया कि नहीं उसको तो अपन मैंने पाप किया और प्रायश्चित करना चाहिए अच्छा और एक भक्त से अपराध हो जाए और वो कहे मैं असंग हूं मुझ पाप पूर्ण से मेरा क्या संबंध न रहा वो अपनी निष्ठा से गिर गया हो है ना लेकिन एक वेदांती से कोई अपराध हो जाए और वो कहे कि अब हम इसके प्रायश्चित का अनुष्ठान करेंगे तब शुद्ध होंगे या ईश्वर से प्रार्थना करेंगे तब शुद्ध होंगे है ना तो वो भी अपनी निष्ठा से च्युत हो गया अपनी निष्ठा का ही बल होना चाहिए ब्रह्म भी बनो और मेमे पेपे भी करो है ना ये दोनों निष्ठा एक साथ नहीं चलती है बोला हाँ, एक आदमी जिंदगी भर हाँ, शंकर जी की गणेश जी की पूजा करता रहा हो तो उसका मनोरथ पूरा नहीं हुआ तो एक दिन बहुत नाराज हुआ गणेश जी को उठा के आले में रख दिया बोले तुम्हारी पूजा से हमारा काम नहीं बना अब हम तुम्हारे बाप की पूजा करेंगे और शंकर जी को रखा नारायण अब शंकर जी के आगे जब धूप दी ना धूप तो उसमें से निकला धुआं और वो शंकर जी की ओर न जाके वो आले में जो गणेश जी थे ना उनकी सूढ़ में घुसने लगा तो उसने कहा कि वाह इतने दिन तो है ना हमसे परिश्रम करवाया इतनी पूजा ली अब हम तुम्हारे बाप की करते हैं तब जबरदस्ती छीनते हो लेके रुई गणेश जी के नाक में ठूसते कि हम तुमको नहीं लेने देंगे अपना धूप है ना सो गणेश जी हंसने लगे बता बोले क्यों हंसे भाई क्यों हंसे कि तुम अब तक तो हमको पत्थर की मूर्ति समझते थे आज तुमने हमको सूंघने वाला सूंघने वाला समझा आज तुमने हमको सूंघने वाला समझा इसलिए मैं हंस रहा हूं कि तुमने चेतन तो हमको आज समझा है ना तो आज हंसते हैं तो देखो बल जो है ना बाल्य का अर्थ है ज्ञान बल भाव बाल्यम ज्ञान बल भाव निर्दम्भ है ना निष्कपट भोला भाला सीधा साधा जैसे बालक रहता है है ना ऐसे अपनी निष्ठा के बल से बलवान होना ये बाल्य है ये मनुष्य के जीवन में आना चाहिए एक वेदांती थे वो तो कहते थे कि हम ब्रह्म हैं है ना जब कोई तकलीफ आती थी ना तो कहते थे स्वामी जी आशीर्वाद दे हमारी ये तकलीफ दूर हो जाए मैंने कहा तू ब्रह्म है भाई तुमको क्या आशीर्वाद दें है ना तुमको तो ब्रह्म ज्ञान हो ही गया तुम अपने को ब्रह्म जानते ही हो अब क्या तुमको आशीर्वाद दें व्यवहार की बात दूसरी है है ना अपनी निष्ठा का बल होना चाहिए न कोई तकलीफ कभी पैदा हुई न है न होगी है ना इसका नाम ज्ञान बल है बाल्यम और मौन मौन माने मन का मौन ये क्या है का ये आप है श्रवण मनन निधिध्यासन पांडित्य बाल्य और मौन मौन माने मुनि वृत्ति जो बीत गया है ना क्या पकड़ते हो उसको उसकी पूछ भी तो तुम्हारी पकड़ में नहीं आ सकती अब है ना जो आने वाला है वहां तक तुम्हारा हाथ पहुंचेगा ना काटते चल रहे हैं है ना ज्ञान के सामने सिनेमा आकर आता है जाता है आता है जाता है आता है जाता है अब ये बोले भाई कुछ संतकरण में कुछ दोष है तो बोले दोष तो कहीं से लाने थोड़े पड़ते हैं अरे माँ में दोष बाप में दोष है ना नाना में दोष नानी में दोष हाँ, उन नाना नानी से लेके नारायण तक की जो परंपरा है ना नानी की नानी नानी की नानी नाना के नाना नाना के नाना है ना नानी के बाप नाना के बाप है ना और अपने बाप और अपने दादा और अपनी दादी है ना दोषों की परंपरा तो अनादिकाल से चली आई है और एक नहीं हजारों पीढ़ी में से घूम फिर के आई है है ना माँ बाप से देखा उसका भाई बंधु से देखा उसका पढ़ा लिखा उसका समाज में देखा उसका मास्टर ने सिखाया उसका है ना मनुष्य के जीवन का निर्दोष होना आश्चर्य है है ना सदोष होना तो सहज सहज है तो इन दोषों के साथ क्या करना बोले आओ हुक्म दे दें कि हे राग अब हमारे मन में मत आना हे द्वेष अब हमारे मन में मत आना है ना तुम्हारा हुक्म मानते हैं ये बोले हमने हुक्म दे दिया आज से ये बात हमारे मन में नहीं आवेगी एक महात्मा थे हो उनके पास कोई आया कि हमको महाराज ऐसा मंत्र बताओ कि झट से सिद्धि मिल जाए ईश्वर हमारी मुट्ठी में हम नचावे तो नाचे तो महात्मा ने कहा लो बाबू हम तुमको मंत्र तो दे देते हैं लेकिन एक बात का ध्यान रखना जब करते समय बंदर की याद तुमको ना आवे तब ये मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाएगा अब महाराज बैठे जब जमाला लेके तो ये ख्याल आवे कि कहीं बंदर की याद तो नहीं आ गई है ना अब बंदर की याद नहीं आ गई इसी में तो बंदर याद आ जाए है ना इसी में तो बंदर आ जाए बिना बंदर की याद के तो रहा न जाए जिसको तुम अपने दिल में से निकालना चाहते हो वो तो तुम्हारे दिल में और घुसेगा हुक्म देने से तो काम बनेगा नहीं हाँ। एक लड़के ने एक बार हमसे प्रतिज्ञा की कि अब हम दुखी कभी नहीं होंगे है ना अब नारायण हो तो पांच रुपया कभी खो जाए तो रोए है ना तो हम कह रहे भाई तूने प्रतिज्ञा की है कि हम दुखी नहीं होंगे बोले हम दुखी कहाँ हैं है ना हंस जाए और आंख से झरझर आंसू गिरे है ना आंख से झरझर आंसू गिरे और हंसे बोले हम दुखी नहीं है है ना तो ऐसे बचपन की बात थोड़ी चलती है भाई सब हिसाब किताब से जिंदगी जो है ना वो हिसाब किताब से चलती है अच्छा आपको तो पाक्य की बात सुनाते हैं है ना पाक बनाना पड़ता है ना जैसे आपके घर में जब कभी कड़वी सब्जी बनानी होती है ना करेले की सब्जी बनाते हैं गुजराती लोग हमने देखा है तो शक्कर डाल देते हैं उसमें गुड़ गुड़ समझो शक्कर गुड़ डाल देते हैं ये क्या हुआ अब फिर उसको पकाते हैं पकाते हैं तो परिपाक जब हो जाता है ना तब कड़वाहट नहीं रहती है पर सिंधी लोग इस मामले में ज्यादा अच्छे हैं बोला वो कड़वाहट तो केले की कड़वाहट सिंधी लोग जितनी निकाल देते हैं उतनी गुजरात महाराष्ट्र में नहीं निकालते हैं निकालते हैं तो जला देते हैं इसकी विद्या सिंधियों को ज्यादा मालूम हम सब प्रांत का भोजन बता सकते हैं वो है ना उड़ीसा का तमिल का तेलुगु का है ना मलयालम का आ, कर, ये कर्नाटक कर्नाटक का सब जगह सब जगह मैंने जान बूझ के वहां जा जाके उस उस प्रांत का भोजन किया है पंजाब का सिंध का आ, तो हम बता सकते हैं कि उसमें क्या विशेषता होते है तो पाक्य कोई कच्ची चीज हो ना तो ये मत समझना कि हम हुक्म दे देंगे जैसे बच्चे को कहते हैं कि बेटा ये काम कर वैसे हम अपने मन को हुक्म दे देंगे कि ये काम निकल जा ये क्रोध निकल जा है ना ये प्रेम निकल जा और ये द्वेष निकल जा तुम्हारे हुक्म से काम नहीं चलेगा है ना उसको धीरे धीरे उसका रसायन बनाना पड़ता है परिपाक बनाना पड़ता है और तेज आंच से नहीं हाँ तेज आंच से जल जाता है और आंच न हो तो है ना फट जाए बोला खटाई पड़ जाए कहीं नमक पड़ जाए बिगड़ जाए तो ये जो अंतकरण के दोष हैं कषाय पक्ति कर्माणी ये कषाय का परिपाक होना चाहिए परिपाक होने का अर्थ ये होता है कि जैसे मन में क्रोध होता है तो कोई हुक्म दे दे कि बिल्कुल आज से क्रोध नहीं करना कोई नहीं मान सकता हो है ना किसी के मन में सामर्थ्य नहीं है क्योंकि मन तो अपने काबू में नहीं होता किसी के आप वेदांत दर्शन का पहला ही सूत्र मैं आपको बता चुका हूं उस पर आचार्यों के भाष्य अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा बोले ब्रह्म के ज्ञान की इच्छा करो मार्द मार दिया सभी संप्रदाय के आचार्यों ने हो देखो इसमें सब एक मत है बोले कि इच्छा करो ये तो विधान हो ही नहीं सकता क्योंकि इच्छा कब क्या होगी इच्छा या श्रुति साध्यत्वा भावात है ना कब मन में कौन सी इच्छा आवेगी ये तो किसी के हाथ में है ही नहीं है ना वो तो जिसमें अनुकूलता का ज्ञान होगा जिसको पाने की वासना होगी है ना वासना के अनुसार पाने की इच्छा होगी और जिसके प्रति प्रतिकूलता का ज्ञान होगा कि ये चीज बुरी है या इससे हमको दुख होगा उसको छोड़ने की इच्छा होगी आग छूने की इच्छा नहीं होगी रसगुल्ला खाने की इच्छा होगी है ना और जब आ जाएगी तब मालूम पड़ेगी ये पहले से किसी को नहीं मालूम पड़ता कि अगले क्षण में हमारे मन में क्या इच्छा आने वाली है इच्छा हो लेती है तब मालूम पड़ती है तो क्रोध बोले देखो फिर एक व्यवस्था करो कि हम पाप है ना पाप के प्रति क्रोध करेंगे है ना पुण्य के प्रति क्रोध नहीं करेंगे है ना अभी व्यवस्था हो गई व्यवस्था हो गई तो धीरे धीरे इसके लिए एक रास्ता निकल गया एक नहर खुद गई और ये क्रोध तुम्हारे अंदर पक जाएगा देखो मन में काम आता है बोले बंद करो काम नहीं आना चाहिए ये ऐसे ही है हो जैसे तुम्हारी आंख से देखो घंटे भर तक कोई दिखने ना पावे तो बोले बंद कर ले नारायण बंद कब तक रखोगे ज्ञान का स्वभाव तो प्रकाश है आंख के सामने जो आवेगा तो मालूम पड़ेगा तो वाक्य का अर्थ क्या है कि मन में काम है तो उसको एक के साथ जोड़ लो ना इसी को अपने यहां ये धर्म व्यवस्था बोलते हैं हो धर्म व्यवस्था बोलते हैं कब बोले नहीं हमको लौकिक वस्तु नहीं चाहिए क्या तो भगवान के साथ जोड़ लो है ना इसी को पचाना बोलते हैं इसका नाम है परिपाक धीरे धीरे धीरे धीरे काम को एक और ये नहीं कि हुकुम दे के कि डंडा मार के है ना कि रास्ते बंद करके ऐसे नहीं उसको कायदे से व्यवस्थित करना होता है तो कुछ दोष ऐसे हैं अपने अंतकरण में राग द्वेष मोह है ना कि इनको पकाना पड़ता है इनको मीठा बनाओ इनमें रसायन डालो है ना इनमें दूध डालो इनमें शक्कर डालो है ना इनको धर्म भावना से व्यवस्थित करो ये दंड देने की पद्धति नहीं है बोला ये दंड देने की पद्धति नहीं है ये रास्ता निकालने की पद्धति है जिससे वो पक जाए जब दूध में उफान आता है ना तो हुक्म दो ये दूध उफनो मत हाँ किसी जोगी जी को बुला लिया ये चमत्कारी लोग होते हैं ना बड़े बड़े तमाशे कर देते हैं एक काशी में अभी याद आई थी सवेरे वहां सुनाया था गाने राम ब्रह्मचारी थे तो जब सब शास्त्र बड़े योगी भी थे ऐसा प्रसिद्ध था तो गुरु जी से हरिशंकर पंडित थे उन्होंने शास्त्र पढ़ा बड़े बोले महाराज हम आपको गुरु दक्षिणा देंगे क्या दक्षिणा देंगे तो बोले कि हमको जो की सिद्धि प्राप्त है हम जरा ऊपर उड़ के आपको दिखाएंगे बोले अच्छा ये तो बड़ी भारी गुरु दक्षिणा है उड़ो भाई अब वो बोले कि लेकिन महाराज खुले आकाश में मैं नहीं कमरे के अंदर बंद होके दिखाऊंगा ले गए अपने कमरे पर गुरु जी को एक दो विद्यार्थी थी उनके जो बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि वाले थे गए अब वो महाराज सीताराम को जाके उन लोगों को तो कमरे के बाहर खड़ा करा दिया कि ये झरोखे में से छाको और हम ऊपर उड़ते हैं कमरे में बैठ के बैठ गए प्राणायाम किया अंधेरा थोड़ा थोड़ा अंधेरा था एक बुरका था हो उनके पास और बांस के छोटे छोटे टुकड़े एक में जोड़ने वाले लगा रखे थे अब वो खुद तो नीचे बैठे रहे और बुरके को उठाते गए है ना <laughs> उठाते गए उठाते गए और वो पहुंच गया वो जो जैसे धरन होती है ना धरन वहां तक अब वो बाहर से उन लोगों को मालूम पड़े कि ये तो उड़ गया हरण पर जाके बैठ गया और वो ज्यो के हो जहां के तहा अब उठे बोले अब गुरु जी महाराज तो बड़े भोले भाले बोले अरे भाई हमारा शिष्य तो सिद्ध है आकाश में उड़ता है तो पंडित रामा अवतार शर्मा थे महामहोपाध्याय पंडित रामा अवतार शर्मा अब से कोई हम हमारे बचपन में हो तीस चालीस वर्ष पहले काशी विश्वविद्यालय में अपन प्राच्य विद्या विभाग के अध्यक्ष वो भी थे हम गए जोगीराज जरा तुम हमें कमरे में आने दो बोले नहीं नहीं जोगी के कमरे में कोई गृहस्थ आदमी नहीं आ सकता बोले कि नहीं ये सब बात नहीं हम आके देखेंगे गो तगड़े भी थे नहीं आने दोगे तो मारेंगे तुम घुस <laughs> गए कमरे में कमरे में घुस गए तो वो बुरका और वो डंडा सब का सब पकड़ के ले आएगा गुरु जी देखो ये काना जो है ना ये काना ब्रह्मचारी कितना दुष्ट है तो <laughs> हम आपको सुनाते हैं अगर सच्ची कोई सृष्टि है बोला सच्ची कोई वस्तु है तो अपना आत्मा जो है ये तो बिल्कुल सच्चा है बोला और ये हे और ये आप्य और ये पाक्य ये परमार्थ सत्य नहीं है परमार्थ सत्य इनको पहले पहले दोषों को पकाना जरूरी है बोला पहले दोषों को पकाना जरूरी है और जो श्रवण मनन आदि है वो कर्तव्य पाक के माने वही ये जिनको बहिरंग साधन बोलते हैं ना समदमादि हो है ना इनके द्वारा मन के काम क्रोध लोभादि को परिपक्व करो ये है बहिरंग साधन है बहिरंग साधन क्यों है ये तो आप लोग जानते ही होंगे क्योंकि आत्मा का शोधन नहीं करते अंतकरण का शोधन करते हैं काम आदि की जो निवृत्ति है और श्रवण मनन निधि ध्यान जो है वो आपके हैं है ना क्यों अंतरंग साधन है क्यों का ये ठीक तत्पदार्थ तम पदार्थ का शोधन करते हैं करण का शोधन जो करे सो बहिरंग और जो लक्ष्य वस्तु का शोधन करे सो अंतरंग है ना और हे क्या है का अवस्थात्रय और उनके अभिमानी और विज्ञे कौन है बोले इनमें एक ही विज्ञेय है आत्मा स आत्मा स विज्ञे यहां और बाकी जो है ये तीनों अवस्था और बहिरंग साधन और अंतरंग साधन ये सब के सब उपलम्ब हैं उपलम्ब है माने केवल उपचार है गौण है कथन मात्र है सत्य केवल आत्मा है सत्य केवल परमात्मा है दूसरी कोई वस्तु सत्य नहीं है अच्छा अब आगे आपको प्रकृत्याकाशवज्ञेया सर्वे धर्मा अनादय विद्यते नहीं नाना तेषाम क्वचन किंचन धूर्त जगत बच्चे थे बोला जब तक आदमी को किसी वस्तु का रहस्य मालूम नहीं होता ना तब तक वो ठगा जाता है वो आपको बताएं हम बचपन में अपना एक चमत्कार बताते हैं है ना हमको एक आदमी ने बता दिया आप सब लोग जानते होंगे हम जानते हैं बोला सबको वो बात मालूम होनी चाहिए हाँ, हमको एक आदमी ने बताया था क्या बताया था कि किसी भी बच्चे से कहो कि तुम अपने मन में एक गिनती लो हम बता देंगे कोई भी गिनती तुम अपने मन में लो हम बता देंगे और कहो तो हम सबके मन में एक ही गिनती ला दें जितने आदमी यहां बैठे हैं सबके मन में एक ही गिनती ला दें तो आप बचपन में वो ऐसा चमत्कार मालूम पड़े हो कि स्कूल में करें स्कूल में करें तो स्कूल के बच्चे एक हैं कि ये विद्या हमको बताओ चेला बनने के लिए आए हाँ हमको ये बता दो ये विद्या क्या है ये विद्या देखो आपको बताते हैं आप अपने मन में कोई भी संख्या ले कोई भी गिनती आपके मन में हो है ना उतना ही अपने पड़ोसी से भी ले लो तो दुगुना हो गया ना है ना अच्छा अब दो रुपया हम आपको दे देते हैं